बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात कहीं कर पाए थे मैं रहा उधर अपनी धुन में पर आप नाथ की ओर गए अतएव आप ही बतलाए किस दिश से युगल किशोर गए भक्त विभीषण चौक कर बोले वचन तुरंत यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में उस पल यह बैरिन आँख खुले जब कपिदल में कोलाहल था सोए थे जहाँ कृपा सागर सुना वह सब सैन स्थल था हाँ अब माया समझ में क्या है उत्पात कुछ संदेश सुसेन ने कहलाया था रात रावण का बेटा रावण पाताल लोक से आया है निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है मेरे स्वरूप में आवही प्रभुवर को उठा ले गया है दुख भंजन को इस भात छीन दुख हमको दुष्ट दे गया है तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुँचाया पाताल चित्कार कर कपि बोला है पाताल तब तो टूटा शीस पर अपने शैल विशाल जाम्बुवंत ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार विपत पड़े पर सदा हे किया इन्होंने काम बलदाता निर्बलों के हैं यही बलधाम यह कह कर बजरंग पर दृष्ट दाल गंभीर इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर फिर वह बूढ़ा वीर जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन जागो जागो जागो जागो हे राम दूत केसरे सुवन जागो जागो हम सबके जीवन रक्षा को मारुत नंदन जागो जागो हम सबके जीवन रक्षा को मारुत नंदन जागो जागो रात ही रात में बूटे लाओ लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने जो काम पवन कर सकता है वह कम पवन कुमार किए तुमने जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ सारा कपिदल निरुपाय हुआ अति खिन्न हुआ अति भीत हुआ असमर्थ हुआ असहाय हुआ अति खिन्न हुआ अति भीत हुआ असमर्थ हुआ असहाय हुआ तब तब तुमने महावीर सब में नव जीवन डाला है तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है असुरों का दल हिल जाता है गर्जन वातात्मत का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है गर्जन वातात्मक का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है फिर आज सुना वो गाज वही देवित यह किस समाज रहे लंका में हो श्री राम राज वानर मंडल की लाज रहे लंका में हो श्री राम राज वानर मंडल की लाज रहे निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराए पर धिक्कार सभी चतुराए पर उपकार वही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर उपकार वही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है रहता ही गमन आगमन है दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है जाओ जाओ हे अंजनी नंदन जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम सीता पर जब संकट था तो क्षण में दिया निवीर जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों दो देर सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों देर धावो धावो हे संकट मोचन बुला रहे हैं राम जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम जाओ जाओ हे अंजनी नंदन बन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान बन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान इसे भात इस रण में तुम हो धीर एक हनुमान इसे भात इस रण में तुम हो वीर एक हनुमान जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग उसे वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग जामवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान निश्चय ही थे वह महावीर इनमें प्राकृतिक महाबल था इनमें प्राकृतिक महाबल था शारीरिक बल फिर आत्मिक बल जिस पर फिर राम कृपा बल था शारीरिक बल फिर आत्मिक बल उस पर फिर राम कृपा बल था हृदय स्थित इष्ट देवता ने दुस्साह रूप संकेत किया झोंको से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया झोंको से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम कितनी सी है बात यह कौन बड़ा है काम जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस से कार्य कराती है फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है अपने कृपा निधान भक्तवस्तल जन से जो काम कराते हैं इसका रहस्य केवल यह है भक्तों का मान बढ़ाते हैं इसका रहस्य केवल यह है भक्तों का मान बढ़ाते हैं अच्छा प्यारो देविदाम सोसाह सोल्लास राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार पथिक चल दूर नहीं है ठाम पथिक चल दूर नहीं है ठाम साहस जिसने नहीं गवाया जिता वही संग्राम पथिक चल दूर नहीं है ठाम पथिक चल दूर नहीं है ठाम जान रहा है समझ रहा है इष्ट सिद्ध गुरु क्या है सतपथ पर चलने वाला ही सफल सदैव हुआ है उसी ने पाए अपने राम पथिक चले दूर नहीं है ठाम पतिक चल दूर नहीं है ठाम साहस जिसने नहीं गवाया साहस जिसने नहीं गवाया जीता वह संग्राम साहस जिसने नहीं गवाया जिता वह संग्राम पथिक चले दूर नहीं है ठाम पथिक चले दूर नहीं है ठाम आगे बढ़ना ही जीना है आगे बढ़ना ही जीना है जाना मरना है एक एक पल मूल्यवान है एक एक पल मूल्यवान है कर जो कुछ करना है यही है अवसर राधे श्याम पथिक चले दूर नहीं है ठाम पथिक चल दूर नहीं है ठाम साहस जिसने नहीं गवाया जीता वह संग्राम पथिक चल दूर नहीं है ठाम पथिक चल दूर नहीं है ठाम गेधों से वृत्तांत सब सुनकर भले प्रकार अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार